राममय विगत विमोहा सेवक सुखद कृपा संदोहा भगवान ने वो सेवकों को सुख देने वाले हैं कृपा संदो संदो मैंने कृपा के घनी भूत है भंडार है कृपा कृपा निधान है भगवान तो कृपा निधान भगवान ने कृपा की और इस प्रकार के जो हम लोगों में कर गए थे इस अध्याय का विस्तार देखते देखते उसको सबसे छुटकारा हो गया शांति मिल गई बस प्रभु का विचार विचारी अब बाद में जब अब सोचते हैं जब माया दूर हो गई वो दूर हो गई तब बात समझ में आ गई कि ये भगवान है परम परमात्मा ही है बालक की लीला भले कर रहे हो लेकिन वो सब समस्त ब्रह्मांडों के जो स्वामी परात्मा परम परमात्मा है वही है और ये भगवान की सब लीला है सब माया का विस्तार कितने कितने ब्रह्मांड है कितने कितने रचना है कहाँ कहाँ अवतार होते हैं कैसे कैसे होती रहती है ये सब तो भगवान का ऐश्वर्य है ये ये माया का विस्तार भगवान का ऐश्वर्य व्यक्त करता है कितना विराट विशाल सृष्टि है देखो तो ये सब इतनी सृष्टि को देखो तो भगवान का ऐश्वर्य पता लगे कितना है क्योंकि ये तो परमात्मा की शक्ति का ही विस्तार है परमात्मा की शक्ति माया और माया का विस्तार समस्त ब्रह्मांड तो ऐसे अनेक ब्रह्मांड हो तो सब परमात्मा की शक्ति है उसी माया शक्ति से है और माया शक्ति परमात्मा की शक्ति है तो परमात्मा कितना शक्तिमान हुआ कितना ऐश्वर्यवान हुआ कितना महान हुआ ये बात पता चलती इस प्रकार से तो ये सब प्रसंग में परमात्मा की महानता का उसके ऐश्वर्य का ज्ञान कराने के लिए सब कथा है हमें ये न समझे कि परमात्मा कोई भगवान ने अवतार शरीर है तो ऐसे जैसे हमारा शरीर है जैसे तो उनका शरीर है बस उतने ही मात्र भगवान है ऐसे नहीं बुद्धि का विस्तार करो उसको साथ साथ भगवान का स्मरण करो कि ये भगवान ने अवतार लिया तो ये रूप जरूर धारण किया है लेकिन परम परमात्मा तो कितना महान है कैसा आनंद है जिसमें कि इतने करोड़ों ब्रह्मांड भी जिसमें कि स्थित हो तो भी उनका वो स्वामी है वो परमात्मा की शक्ति से सारे ब्रह्मांड स्थित है सब चल रहे हैं इनकी लीलाएं खंडों के युग कल्प बीतते जा रहे हैं कितने कितने प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं नष्ट हो रहे हैं बीत रहे हैं समाप्त हो रहे हैं काल बीतता जाता है सृष्टि बनती बिगड़ती चली जा रही है ये सब भगवान की महिमा है ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य को ध्यान में रख करके तब भगवान का स्मरण करो भगवान का स्मरण तो करते हैं ध्यान भी करते हैं लेकिन उसके ऐश्वर्य का स्मरण करके ध्यान करो कैसा ऐश्वर्य का है नहीं भी करो कैसे भगवान महान भगवान का अनुस्मरण कर रहे हैं तो भगवत्ता परमात्मा के ऐश्वर्य का परमात्मा के विस्तार का परमात्मा की शक्ति का जहाँ तक बुद्धि काम करे वो सब थोड़ा ही है बुद्धि से सोचो कि परमात्मा बड़ा शक्तिशाली है जहाँ तक बुद्धि सोचेगी उतने से ज्यादा परमात्मा शक्तिशाली है परमात्मा की जितनी महिमा सोच सकते हो उतने मन से भरा सोचो लेकिन उतनी ही परमात्मा की महिमा नहीं महिमा तो परमात्मा की और भी जाता है इस प्रकार से अपनी बुद्धि जहां तक जाए उसको व्यापक बना करके सब परमात्मा के ऐश्वर्य और महिमा का स्मरण करना चाहिए ये भगवान का पूजन है ध्यान स्मरण करते समय ये सहायक हो जाइए इसलिए सब प्रकार है अब कहते हैं प्रभुता प्रथम विचार विचारी अब पहले की प्रभुता जो विचारते हैं कि हमने देखा कि प्रभुता क्या देखी इन्होंने ब्रह्मांडी के समान देखे ये सब भगवान की प्रभुता थी तो सब देख कर क्या उसको स्मरण आता कि हम यही हमने देखा था तो मन में हो हर सत्य भारी तो कहते उसको स्मरण करके बाहर हर्ष होता है तो देखो भगवान इनके सबके स्वामी है ऐसे मायापत भगवान है ऐसे महान है ये सब स्मरण आया तब भगत बचलता प्रभु देखी उस जीवन और प्रीत विषय की और ये देखा कि देखो भगवान ने कैसे हमारे ऊपर कृपा की भगवान भक्तों के ऊपर कैसे कृपा करने वाले हैं तो उन्होंने हमको कृपा करके ये सारे इतनी सबकी स्तुतियाँ दिखा दी विद्या माया संस्कार दिखा दिया संकल्प दिखा दिए अपना ऐश्वर्य दिखा दिया तो भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाने तो फिर उसके भगवान के, के प्रति प्रेम भी जागृत होता है ऐश्वर्य को देख करके गीता में देखे ग्यारहवा अध्याय भगवान ने फिर आखिरी अर्जुन को दिखा दिया तो अर्जुन को फिर क्या हुआ अर्जुन के हृदय में भगवान के प्रति विश्वास पैदा हो गया प्रीति पैदा हो गई समर्थन भाव पैदा हो गया अब भगवान ने विराट रूप दिखा दिया तो किसी एक यही ब्रह्मांड दिखा दिया कि सब विराट रूप देखिए ब्रह्मांड बन रहा तो भी थोड़ा दिखा दिया काल को तो भगवान ने मैंने कितने ब्रह्मांड दिखा दिया शब्द जैसे भूलक का वृक्ष हो ऐसी आपकी माया है हम्म? अलग ब्रह्मांड अनेक विकार ये सब जितने ब्रह्मांड है जैसे कि भूलर के फल एक वृक्ष में हजार अरब लाखों फल लगे हो ऐसे करके एक विशाल भूलर का वृक्ष हो ऐसी आपकी माया है अगर तो उसमें इतने ब्रह्मांड के ब्रह्मांड और उन भूलर के भीतर जैसे घूमने बात करें ऐसे प्राणी ब्रह्मांड में बात कर रहे हैं कौन ठिकाना और फिर कहते हैं कि, कि देखो कि ये तो सब सृष्टि जन्म विस्तार और ये सब काल लेकिन वो काल जो जिसके अंतर्गत ये सारी सृष्टि है वो काल भी आपसे डरता है उस काल का भी आप रक्षण कर जाने वाले ये काल इन ब्रह्मांडों का ये जो काल है ब्रह्मांडों का भक्षण कर जाता है और उस काल का भक्षण आप कर जाते हो आप देखो किसी महीना भगवान तो बार बार स्मरण बुलाते रहते कि परमात्मा की महिमा को स्मरण करो कैसा विशाल कैसा ऐश्वर्य कैसा महान तो जैसे जैसे परमात्मा की महानता को स्मरण करेंगे तैसे तैसे अपने अहंकार को क्या होगा तो अहंकार को देखो सब खत्म हो गया अहंकार अहंकार उसके सामने क्या है कोई गिनती नहीं तो ये इस प्रकार से जहाँ पाप समाप्त हो गया और भगवान की महिमा समझ में आई तो वो अवस्था जो व्यक्ति की है परमात्मा में समर्पण भाव की इसी का नाम है भक्ति हम्म, तो देखो भक्ति उदय हो गई तो भगत बधुता सब उदय देखी उदगी मम और प्रीत विशेषी तो तब हमारे हृदय में विशेष प्रेम उत्पन्न अरे इतना प्रेम पहले ही था की आकर के हर बार बार हर कल्प में हर त्रेता युग में भगवान राम का उतार होता तो बार बार आकर के पांच लीलाएं देखती देखते थे तो कोई कम रहेगा लेकिन अब उसके बाद जो तो प्रेम हुआ तो अब प्रेम कैसा हुआ रूप जी नमोर प्रीति विशेष अब जो सुमन पहले से ज्यादा हो गए चलता जाएगा जैसे जैसे परमात्मा का विश्वास और परमात्मा का प्रेम कर्मता बढ़ते चला जाएगा इसलिए भगवान की महिमा को स्मरण करना चाहिए स्मरण करना चाहिए जिससे कि प्रीति बढ़ती जाए परमात्मा और अपना अहंकार घटता जाए ये क्रम इस प्रकार तो सजन नए नयन पुलकित कर जोड़ी प्रकार को हमने जो है कालखंड कहते हैं कि प्रेम के काल से नेत्रों में उसके आगे प्रेमाशु आ गए शरीर में कुलपावली हो गई अब हाथ जोड़ करके क्या किया कि बहुत विनय बबोरी भगवान से बहुत प्रार्थनाएं की के भगवान तुम्हारे दयाल हो कृपाल हो अपने ऊपर कृपा करने वाले हो मायापति हो आप अपने ब्रह्मांडों के स्वामी हो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी सब आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं समस्त देवता आपके भय से अपने अपने कार्यो में लगे हुए हैं सब प्रार्थना इन्होंने आज छंदनी की हाथ जोड़ की इनके हाथ कौन से पंजे हैं जितने पंजे हैं तो वे अपने जोड़ हुए हाथ जोड़ देखते देखते भूल गए या शंकर जी भूल गए कथा कहते कहते कि काल दूसरे के हाथ है उनके पन्नी जो है लेकिन ये कालभूषण कालभूषण करके ऐसे नहीं दिखाई देते जैसे कि चौगुई नाम हो उनको देखो उस प्रकार से कि हाथ जोड़ करके वो उनको देखते हैं मनुष्य आकाश में कालभूषण जब इतने ब्रह्मांडों में घूम फिरे और भगवान की लीला करके देखते हैं और इतना विचार करते हैं तो इनको हमेशा मेरा कौवे ही न समझे कभी कभी बीच बीच में ये भी देख लो इन्होंने हाथ जोड़ लिए इतने भगवान को प्रार्थना कर ली इतनी सब भगवान की लीलाएं देख ली तो कहते अब एक मूल तो हुआ बस वही उसकी पूजा करने की बुद्धि नहीं बैठी मात्र नहीं सुन सके नमो और देश दीन निजदार जब हमने इस प्रकार कालभूषण का जब अपने अनुसार नहीं दिए कालभूषण ने जब भगवान की बहुत प्रार्थना की तो भगवान प्रसन्न हुए तो हमारा प्रेम उन्होंने देखा और जब सुनी सप्रेम मम वाणी मैंने हमने जब प्रेम भरी वाणी से भगवान की इतनी स्तुत की तो देश दीन निजदार और भगवान ने देखा कि इसका अभिमान दीन के मैंने अभिमान हो गया है और ये हमारा भक्त हो गया मेरे तो समर्थन भाव हो गया है और की उत्पन्न हो गई है भगवान को समझ मांगी सुजान भगवान जान जाते हृदय की बात और क्या स्थिति है तो भगवान जान गए कि इस प्रकार करती देख दीन दीन को उसमें रखे तुलसीदास के दीन शब्द का प्रयोग करते रहते मेरा अभिमान किया कहने का जो अभिमान था वो समाप्त हो गया पहले अभिमान जब भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया तो भी भागे कि देखेंगे बच्चे पकड़ खड़े पाएंगे इनका हाथ तो अपने समझते भगवान को बच्चा अपने समझते समाकाश में सकते हैं ये कैसे हो जाएंगे हमारे साथ हम भाग जाएंगे नहीं पकड़ तो पाएंगे और दूसरे प्रकार का अभिमान था अब वो अभिमान अभिमान समाप्त हो गया अब उनको समझ में आ गया कि हम जहाँ कहीं जाएंगे भगवान पहले ही है और जहाँ कहीं भी हम जाएंगे तो भगवान की माया की रचना क्या भागना है और क्या पकड़ना है और क्या पकड़ना ये कोई अर्थ नहीं लगता है इसलिए इस प्रकार से दीनता जन्म के मन में आ गई अभिमान समाप्त हो गया और भगवान के प्रति समर्पण हो गया प्रेम भी आ गया भगवान के प्रति तो वचन सुखद गंभीर प्रयोग बोले हे माने मार तब भगवान ने बड़े मृद वचनों में भगवान ने इस प्रकार से कहा कहा हो गए करके भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान भी मनुष्याकार हो गए और वो भी बोलने लगे जैसे मनुष्य पूरा युवक बोले वयोवृद्ध बोले इस प्रकार से भगवान फिर कालभूषण से बोलने लगे इस प्रकार से अब लीलाएं हो गई के किनारे अब भगवान को देखो भगवान के भक्तों को देखो अब भक्त को भगवान के प्रकार से बोलते हैं कहा भूषण को नाम करो अत तो प्रसन्न हुई जाए भगवान ने कहा कि काभूषण तुम वरदान हो तो हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है प्रसन्न क्या कि काभूषण में अहंकार छूट गया चिंता आ गई भगवान के ऊपर समर्पित हो गई थी स्थिति की तो भगवान प्रसन्न कहा कि वरदान मतलब जितनी बात होती है क्या क्या मतलब में मांगा जा सकता है ये सब बातें भगवान ने गिनाई कहा कुछ बताओ ये चाहिए मांगो चाहिए मांगो चाहिए मांगो गिनाते हैं हनुमाती की तो सिद्धि तुम चाहो तो हनुमाती सिद्धियां मांगो हनुमा लघुमा प्राप्तांग इत्यादि जो सिद्धियां हैं आपको सिद्धियां नवो निधियां हनुमाती को तो सिद्धि अपर रिद्धि सिद्धि जितनी भी है इनमें से जो भी चाहो करो और फिर ये रुद्र सिद्धि क्या है ये लौकिक भौतिक माया की उत्पत्ति है भौतिक संसार की भौतिक वस्तु में है समृद्धि सिद्धि से अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त होगा तो बहुत धन प्राप्त हो जाए सवाइया प्राप्त हो जाए शरीर बहुत स्वस्थ हो जाए दीर्घायु प्राप्त हो जाए आकाश में उड़ने लगे पानी में चलने लगे ये सब भौतिक उपलब्धि है नाना प्रकार की प्राप्त हो जाए जिससे जिससे योगी हो जाएंगे ये सब भक्ति को अरे भगवान कहते हैं भौतिक को तो न चाहते हो तो तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो मुक्ति भी मांगो तो वो भी तुमको दे दें मोक्ष सकल सुख खान ये जो सिद्धियां भी बड़ी सुख देने वाली तो अगर तुम समझते हो कि भौतिक सुख ही बहुत बड़ी चाहिए तो वो मांगो तो वो दे दें ये कहो कि नहीं इनसे भी ज्यादा सब सुख की खान तो मुक्ति है अगर मुक्ति दो युद्ध सिद्ध नहीं चाहिए तो भगवान कहते मुक्ति मान लो तो मुक्ति भी तुमको दे सकते हैं तो भक्त हमारे जो चाहो तुमको दे फिर आगे और बिनाते हैं क्या क्या देने के लिए भगवान कहते हैं वो भी दे ज्ञान विवेक विरत विज्ञान मुनि दुर्लभ गुण के जग आज देव सब संशय मैं बुझ तो भाव मन माही बचन अनुरागे मन अनुमान कर्म तब लागे सकल सुख सही भगत आपनी न कही ही गुण सब सुख ऐसे सुख कबने पाजा तो विचार बोले भग राजा जो प्रभु प्रसन्न करते हो पर करो मन भागत परम स्वामी अविरल भगत की शुद्ध तब सुत पुराण जो गाव जय खोजित जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाय भगत कल्प तरु प्रणत चंद्र सुबह सोई निज भगत मुहि प्रभु देव दया देने के बाद ज्ञान कहते हैं कि और क्या देने के लिए कि ज्ञान विवेक विरत विज्ञान ज्ञान कि तुमको ज्ञान को ज्ञान दे दें विवेक कहो तो विवेक दे दें वैराग्य कहो तो वैराग्य दे दें विज्ञान कहो तो विज्ञान दे दें मुन दुर्लभ गुण दे जग जाना और जो मुनियों के दुर्लभ बहुत से गुण है वो सब गुण दे दें तुमको आज दिन सब संशय नहीं आज हम तुमको सब दे सकते हैं भगवान का गुण सकते हैं इसमें कुछ संशय करने की बात मैंने ये मत सोचना कि भगवान क्या देंगे क्या नहीं देंगे मांगे कि मांगे इसलिए तुम संदेह मत करो और जो भी मांगना चाहो उसे मांगो मांग जो तो आव मन जो तुम्हारे मन में अच्छा लगे जो प्रिय तुम्हें हो सो तुम सुनो अब इसमें जितना भगवान ने मांगने के कहा लोग पर लोग की सभी बातें इसमें आ गई भौतिक वस्तु भी आ गई मुक्ति भी आ गई ज्ञान विवेक भी आ गया ज्ञान भी आ गया विज्ञान भी आ गया विवेक भी आ गया ये सब हो गए और फिर उसके बाद व्यक्तियों में फिर सदगुण बहुत से आ जाते हैं उदारता क्षमा दयाल दयालता परोपकार आदि साधु स्वभाव के जितने लक्षण है वो भी व्यक्ति में आ जाते हैं उनके लक्षण कहलाते हैं वो भी सदगुण जो है वो भी प्राप्त हो जाते हैं ये सब भगवान ने देने को कह दिया मैंने भगवान ने अपनी तरफ से ऐसा लगा जैसे कुछ भी देने के लिए बाकी नहीं रखा जहाँ तक भगवान को दी जाए वहाँ तक सब लेकिन कालभूषण जो है उसमें भी देखने लगे जो कुछ भगवान ने देने को कहा ये बहुत अल्प है और थोड़ा उनको लगने लगा सुन प्रभु वचन अधिक अनुराग भगवान की बात सुन करके हृदय में बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ बड़ा प्रेम हृदय उत्पन्न हुआ जैसे भगवान कैसे कृपाल में ये सब ऐसे जो दुर्लभ वस्तुएं देने को तैयार है भगवान बड़े उदार हैं ऐसे तो मन अनुमान करने तक लागू तब मन में अनुमान करने लगे सोचने लगे अपने मन में कि भगवान ने क्या क्या देने को कहा और क्या देने को नहीं कहा ये सब जितनी जिसको सुनाई उसमें से क्या इनकी सबकी उपयोगिता क्या है इनमें से क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए ये सब सोचने लगे अपने मन में तब कहते हैं प्रभु कह देन सकल सुख सही ये कालभूषण अपने मन की गति बता रहे हैं उस समय हमारा मन क्या सोचने लगा कि भगवान ने सब कुछ देने को तो कहा है लेकिन भगत या बनी देने में कही इतने शब्दों में भक्ति का नाम तो कहीं है ही नहीं प्रेम का नाम तो कहीं है ही नहीं बाकी सब बातें देने को भगवान ने कही है ये क्यों नहीं भगवान ने कहा कि तुम भक्ति भी चाहो तो मान लो प्रेम भी चाहो तो मान लो ऐसा तो नहीं भगवान ने बोला तो ये सब अपने मन में सोच रहे हैं तो आप सोचते हैं कि भक्ति तो बड़ी महत्वपूर्ण है कहते भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे कि भक्ति के बिना अगर ये सब प्राप्त भी हो जाते हैं सब गुण प्राप्त हो जाते हैं ज्ञान विज्ञान भी प्राप्त हो जाता है अष्ट सिद्धियां नवनिधियां भी प्राप्त हो जाती हैं ये सब होने पर भी बिना भक्ति के क्या है कहते हैं कि लगन बिना बहु व्यंजन जैसे तो बस भक्ति के बिना तो ये सब ऐसे हैं जो सब अलोने सब रूठे हैं इनमें कोई स्वाद नहीं जैसे भोजन में नमक निकालो तक उसमें स्वाद नहीं जैसे तो इनमें सब नाना प्रकार के सुख बता दिए इनमें सबने भक्ति तो है नहीं तो फिर भक्ति के बिना उन सबका जो सबका सबका स्वाद जो स्वाद ही नहीं मैंने भक्ति हो तो फिर ये कुछ भी प्राप्त हो जाए सब अच्छे हैं लेकिन भक्ति के बिना ये कुछ अच्छा नहीं है ये सोचने लगे उस प्रकार भजन ही न सुख पवने राजा कहते हैं कि विचार बोलो अगर राजा अगर कोई और भी सुख हो मैंने सुख मैंने लौकिक सुख हो लेकिन परमात्मा का प्रेम नहीं है परमात्मा की भक्त नहीं भजन के मैंने भगवान की सेवा भाव प्रेम भाव भक्ति भाव नहीं है तो वर्तमान दुनिया को सुख होंगी तो वो सुख किस काम की अस विचार बोले खबर आया इसमें उनका विचार अपने मन में चलता है इसके मैंने उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण तो तारकृष्ण जी ने यह समझ लिया जैसे भगवान की अगर भक्ति मांगे तो भक्ति में ये सब बातें अपने आप आ जाती है भक्ति इतना एक उच्च स्थिति है या एक व्यापक वस्तु है जिसके के अंतर्गत सब आ गया अब भगवान में भक्ति हो भगवान में प्रेम हो तो कहो कि भगवान के बिना ज्ञान के ही व्यक्ति आ जाएगी ऐसे तो होगा नहीं जब भगवान में भक्ति हुई भगवान में प्रेम हुआ तो इससे पहले निश्चय है कि भगवान का ज्ञान विज्ञान है ही है तो जब भक्ति मांगेंगे तब तो ज्ञान के ज्ञान तो भगवान को देने देना पड़ेगा और ज्ञान के ज्ञान भगवान देते हैं तो ऐसा कोई ज्ञान के ज्ञान नहीं जिसमें की आसक्ति हो बैराग अपने आप होगा भगवान बैराग देने कहते ही है तो वो जब भक्ति मांगेंगे तो ज्ञान के ज्ञान भी आ जाएगा बैराग भी आ जाएगा और जिसको कि ज्ञान के ज्ञान प्राप्त हो तो वैसे ही मुक्त है जो व्यक्ति व्यस्त है आपकी ज्ञान आत्मज्ञान ज्ञान में स्थित है तो वो मुक्त नहीं है मुक्ति तो यही है भगवान मुक्ति वैसे देने कहते हैं जब हम भक्ति मांगेंगे तो उसमें मुक्ति भी इम्प्लाइड है उसी मैंने भक्ति एक ऐसा बड़ा घेरा है जिसके के भीतर ज्ञान विज्ञान वैराग इत्यादि मुक्ति आदि सब उसी के भीतर आवे बिना उसके तो मुक्ति हो नहीं सकती इसलिए मुक्ति भी आ जाएगी और फिर जितने अनुमानिक सिद्धियां क्या जितनी सिद्धियां हैं मुक्त पुरुष को सब प्राप्त है परमात्मा स्वरूप तो परमात्मा को क्या प्राप्त नहीं परमात्मा भाव जिसको भी प्राप्त हो जाए मुक्ति प्राप्त हो जाए तो सिद्धियां इतने सब उसके लिए भारत की बातें सुनता है कुछ बात नहीं है कि ये तो सब प्राप्त ही हो जाएंगे इसलिए भक्ति मांगनी चाहिए भक्ति का तात्पर्य क्या हुआ है पर कि परमात्मा का तो ज्ञान हुई हो लेकिन चित्त परमात्मा में सदा लगा रहे जैसे पंचदशी का जो विचार चल रहा है उसके अनुसार देखें जब शत्रुघ्न की अधिकता हो तब जो है परमात्मा का ज्ञान हो तब परमात्मा की महिमा समझ में आए तब चित्त शांत हो उसमें परमात्मा की सुखानुभूति हो तब तो उसके माने ये है कि अगर भक्ति मांग लो भगवान से तो भक्त देने के लिए भगवान शत्रुघ्न भी देंगे तो जो उन्हें तम गुणता भी अर्थ कर लेंगे सबके भक्ति दे पाएंगे भक्ति कैसे दे पाएंगे इसलिए सत्गुण भी प्राप्त हो जाए और उसमें फिर परमात्मा का आनंद हृदय में अपने आप उपलब्ध होगा वो आनंद में स्थित होकर के भक्ति रहेगा इसलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति मांगी तो सब मांगी उसमें ये सब ये ऐसा नहीं है कि काश भूषण ने कहा कि देखो हम मुक्ति नहीं चाहते हम लेंगे नहीं देव तो भी नहीं लेंगे अगर आप जो है ज्ञान विज्ञान दो तो हम उसकी परवाह नहीं करते हमें तो अज्ञान ही अच्छा लगता है और आप वैराग्य दो तो हम बैराग भी नहीं लेंगे हमें तो राग ही अच्छा लगता है अटैचमेंट ही अच्छा लगता है और फिर बताए आपको फिर ये कागूषण का तात्पर्य नहीं ये है ये कहते हैं कि खाना तो सब खाया जाता है लेकिन नमक होता है तो स्वादिष्ट खाना हो जाता है तो होने के लिए घर तो में दीजिए तो ये सब जैसे भोजन में खाने के लिए साग सब्जी दाल रोटी सब दो लेकिन धन लेकिन ऐसे करके ये दो तो सब परमात्मिक सुखियां भी दो और हमको जो है मुक्ति भी दो ज्ञान विज्ञान वैराग्य भी दो लेकिन भक्ति भी दो भक्ति के बिना ये सबके सब बेकार इसलिए भक्ति मान करके इनको सबको पूर्ण बना दिया और अंतिम स्थिति यही परमात्मा की प्राप्त हो जाए मुक्ति भी हो तो चित्र भी तो उसी आत्मभाव परमात्मा की निरंतर टिका रहना चाहिए सदा शांति रहे मन में और मन सदा परमात्मा में ही लगा रहे स्मरण रहे कि अपना स्वरूप परमात्मा है परमात्मा है ये स्थिर बनी रहे थे तो भक्ति बनी हुई है बस यही दुर्लभ है संसार में ज्ञान तक सुलभ है ज्ञान विज्ञान ये सब सुलभ मुक्ति भी सुलभ है लेकिन चित्त निरंतर आत्मभाव में स्थित बना रहे बचे दुर्लभ इसलिए भक्ति दुर्लभ इसी तरह हम भक्ति है दुर्लभ है कोई करके देख पता लग जाएगा दुर्लभ है कि नहीं जब देखेंगे चित्त निरंतर लगा है परमात्मा में चौबीस घंटे तो नहीं लगता भूल जाता है तो बस यही समस्या सबसे बड़ी बात पी भी लिया परमात्मा है जान भी लिया परमात्मा है ये भी मान लिया हमारे समस्त भक्तियों का अधिष्ठात्र जो पुस्तक है वही परमात्मा है साक्षी वही परमात्मा है हमारी भक्तियों का प्रकाशक वही परमात्मा है जो आनंदानुभूति हमारे अंदर होती है वो भी परमात्मा की आनंदानुभूति है वही परमात्मा की आनंद शोषण से है लिया लेकिन तो चित्री भी तो लगा रहे सबको तो है इसलिए कहते हैं कि भगवान जब तक है वरदान मानते हैं बाबू इस प्रकार से कि जो सब कोई प्रसन्न कर देहू मुँह पर करो कृपा नेहू तो कहे भगवान अगर आप कृपाल में दयालु हैं हमारे ऊपर कृपा करते हैं वरदान देने ही कहते हैं और आप अंतर्यामी तो है ही सब जानते हैं तो कृपा करके ऐसा दीजिए मन भावत कर मानो स्वामी कि भगवान हमें जो अच्छा लगता है वो वरदान हम आपसे मांगते आपने कह दिया जो चाहो वरदान मांगो इसलिए हमें भी जो अच्छा लगा वो वरदान आपसे मांगते हैं तुम उदार हो रहे अंतर्यामी उदार याद दिलाते हैं जिससे कि भगवान मना न करें भगवान दे अंतर्यामी के माने ये है कि हम ऐसा नहीं कि मन में कुछ बात और हो हमसे कुछ और बात कह रहे हैं हमारे हृदय से बस यही इच्छा है कि आप उनको भक्ति प्रदान करो तो अविरल भगत विशुद्ध तब मुनि पुराने जो कहा हो ऐसी भक्ति जो अविरल होती है विरल होती है अविरल होती है विरल चिंतनम सगल चिंतनम दो प्रकार का होता है हर हो महासुभ हाँ? तो विरल चिंतनम के मैंने कभी कभी चिंतन हुआ कभी कभी नहीं हुआ विरल चिंतन हो गया कभी कभी भगवान की याद आ गई कभी कभी भूल गए ये विरल चिंतन भगवान का निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे चित्त निरंतर परमात्मा में स्थापित रहे वहां से चले गए तो अविरल हो गया तो बस ये स्थिति आ जाए अविरल भगत विशुद्ध तब ये भक्ति जो विशुद्ध भक्ति है सर्वोपर जीवन का स्वरूप यही है और शुद्ध प्राण जो होगा सुखिया भी प्राण भी किसी स्थिति का निरूपण करती है कहती है गर्भता व्यक्ति को किसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए ये खोजत योगी सुमुनि योगी और मुनि भी इसी रूप होते हैं योगी लोग तो योग कर रहे हैं कितने दिनों योगी कहलाते भी हैं लोग जाने जाते योगी हैं लेकिन वो भी अभी क्या चाहते हैं कि परमात्मा में सदा लगा रहे उसका प्रयास हम भी कर रहे हैं मुनि लोग भी यही कार्य कर रहे हैं तो प्रसाद को लेकिन वो स्थिति हर किसी को प्राप्त नहीं होती जब भगवान की कृपा होती तभी प्राप्त होती प्रभु प्रसाद को उपाय ये रामायण भर में कई दृष्टान्तों के द्वारा दिखा दिया गया है कि कृष्ण जी को भगवान की भक्ति खुद प्राप्त है लेकिन अविरल भक्ति जिसमें कि प्रमोह उत्पन्न हो और संसार सत्य दिखाई दे माया में जगत की तरफ ध्यान चला जाए परमात्मा भुला जाए इस प्रकार की स्थिति भी नहीं आई इसलिए भगवान से कहते हैं कि इतनी आपकी सेवा इतनी आपकी दीजा देखी इतना आपका भजन इतना सब किया लेकिन कृपा आपकी इतनी नहीं हुई कि चित्र सदा आपको ही दिखा रहे और फिर ये माया जितनी है वो तो न दिखाई दे हमारे चेतन हमारे मन में ये मायाजाल तमाम फैलाव वो है माया है विस्तार है स्थिति है ये सब सभी सब हैं इनकी तरफ हमारा सब ध्यान न जाए मात्र आप में ध्यान लगा रहे ये जल्दी प्राप्त नहीं हुई ये तो आप जब देंगे तभी प्राप्त अब ऐसे देखते हैं बहुत भक्त इस प्रकार के हैं जैसे हनुमान जी भी हैं हनुमान जी भी भगवान के बड़े भक्त हैं लेकिन भगवान से तो भगवान मानते थे भगवान भगवान मानते वही भक्ति करो हम्म? अविरल भक्ति करो वही भक्ति जो वो हो वही साकार मानते रहते हैं तो कहते हैं कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त होती है तो कहते हैं भगत कल्प करो अपना प्राण सहित ये भगवान के लिए संबोधन है कि ये भगवान आप भक्तों के लिए कल्प करो कल्प कर्म में कल्प कर से जैसे स्वर्ग में कल्प कर है यहाँ से कोई जाता है स्वर्ग में बात करता है तो कल्प करते से जो मानता है तो वो दे देता है तो स्वर्ग का जो कल्प कर है वो तो पुण्य है जो पृथ्वी ने अपने पुण्य आयोजित किए वही स्वर्ग में जा करके कल्पवृक्ष बन गया आप अपने पुण्यों के अनुसार जो चाहोगे कि हमें ये दो ये दोष देता जाए जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाकर के कश्मीर में नैनीताल में शिमला में जाकर के किसी होटल में ठहरे तो जो भी जितने भी पैसे उसके पास में ले जाकर के उसमें होटल में जमा कर दे काम लिए कहीं भी कुछ ले ले वहाँ होटल में जमा कर दे कि भाई इसी में हमारे पेमेंट का एडजस्टमेंट हो जाए दस बीस पचास हजार दो कुछ नया कर दिया उसी ले ली अब उसके बाद में होटल आप कुछ उसको पेमेंट नहीं करना होटल वाले से बुलाया गया आप नाश्ता लाइए नाश्ता दे दिया कभी भोजन ये लाओ ये दे दिया फिर टैक्सी बुलाओ टैक्सी दे दी उसका किराया पेमेंट कर दूसरा दूंगी अब उसको क्या तो उसमें जो जो कैसे जाओगे कहाँ कहाँ वो करता जाएगा और जब वो उसमें उसका कैलकुलेशन होता जाएगा तो आपका जमा है तो को देखा दोनों तो सब बराबर हो गया अब वो क्या करते हैं बताओ गुना करो नहीं जाए फिर चलो बस किसी प्रकार से वहां पर सब लोग वहां का कर्म जैसे तय है कि जितने पुण्य उतने दिन तक वो जो मांगो से वहां प्राप्त होता रहेगा वहां पर जो चाहे उसको भू कर लो और उसके बाद वहां छुट्टी जाए स्वर्ग में काम तुम्हारा लेकिन कहते हैं ये भगवान ने ये भक्तों के कल्प रखे भक्तों के कल्प वृक्ष मिले भगवान से जो मांगो ये सब प्राप्त होने वाला है लेकिन ये पुण्य के कल्प प्राप्त होने वाला नहीं है ये प्राप्त होने वाला है भगवत का रूप है भगवत भगवान के शरणापन्न हो गए भगवान के ही बन गए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो फिर भगवान उनके लिए कर्म पक्ष बन गए भक्त जो चाहते हैं भगवान सब देते हैं सब पूरा करते हैं तो कहते भगत कल्प करो प्रणत हित प्रणत हित मन